رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي ربي صل وسلم دائما نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله वाम नवाल हूँ वातम बुरहान हूँ वाजमा शाम की हमद सना और हजूर पुरनूर शाकिर यमन मशहूर दस्त दूर जहां गम गुसार जमा सैद सरबराम हामिन बेकसाम कायद मुसलीम खातम नबीन अहमद मुशतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वास्तादी मुबारक वसलम के दरबार गौरदार में हबी सलाम अर्ज करने के बाद नहायत ही मोजज मोहतशम हजरात खवतिन रबाल के फजल और तोफीक से माह रमदान मुबारक के दूसरे आशरा के आगाज में हमें इज्तम जुमत मुबारक में शिरकत की सादत हासिल हो रही है मेरी दुआ है रबुल जलाल हमारा ये इज्तिमा नमाज जुमा अपने दरबार में कबूल फरमाए और खाल के कायनात जिंदा जलाल हूँ इस रमजान मुबारक को हमारी बख्शिश का सबब बना क्योंकि रहमत का अशारा गुजर चुका है और बख्शिश का अशारा मफरत का अशारा जारी है इसमें भी रब जलाल की तरफ से हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मफरत के परवाने अता किए जाएंगे अल्लाह के दरबार में दुआ है कि रबुल जलाल उन लोगों की लिस्ट में हमारा नाम भी शामिल फरमाए मोहतशम साहब हजरात कुरान मजीद बुरान रशीद के लिहाज से बिलखसूस माह रमदान मुबारक में साल हा साल से हमारा एक प्रोग्राम किस्तवार जारी है जिसका नाम है मफहूम कुरान बदलने की वारदात यानी कुरान मजीद की आयात को आर बनाकर कुछ लोग जो अपने गलत नजरियात को पुरानी नजरियात करार देना चाहते हैं तो हमने आयात की जो सही तशरी खुद आयात करती है उनको सामने रखते हुए पहली दस अकसात मुकम्मल की हैं जिनमें से पांच छपी भी मिलती हैं और दूसरी भी इंशाला करीब वो छप जाएंगे दूर दराज तक उन खुतबात को सुना गया और वो जो निशाब था आयात कुरान की तफसीर और तशरी का उसको अच्छे तरीके से पढ़ा गया और समझा गया अब उस सिलसिले की ग्यारहवीं किस्त जो है वो आज इन अल्लाह की फजल करम से ये आपके कानों की नजर की जा रही है और अमानत आपको सुपुर्द की जा रही है और इंटरनेट के जरिए से दूर दराज अहबाब तक ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है और खाल की कायनात जल्ला जलालू के दरबार में दुआ दी है कि रब जलाल हमारे इस कलमा सोज को असर आता फरमाए और रब जलाल कुरान मजीद की सही ताबीर तशरी और तफसीर ताबीर को उजागर करने की तोफीक अता फरमा हमारे वक्त में और हमारे आज के माहौल में जिन आयात को गलत पस मंजर में लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक आयत ये भी है वमा उहिल्ला और वो जिसको जबा किया गया गैरुल्ला के नाम के साथ वमा उहिल्ला क्योंकि रबेजुल जलाल ने करना खुर्रमत कुमुल मैता तुम पर मुर्दार हराम कर दिया गया कि तुम उसको खा नहीं सकते वह दम और खून को भी हराम कर दिया गया वलहमुल खुनजीब और खिंजीर का गोश्त भी तुम पर हराम कर दिया गया वमा उहिल्ल गैरुल्ला और जिस पर गैरुल्ला का नाम लेकर उसको जबा किया जाए उसको भी तुम पर हराम कर दिया गया यानी जब छुरी चलाई जाती है तो अल्लाह के नाम की जगह किसी बंदे का नाम लिया जाए बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर की जगह कोई किसी वली का नाम ले ले किसी जात का नाम ले ले तो अब वो जरिया हराम हो जाएगा क्योंकि उसको अल्लाह के नाम पर जबा नहीं किया गया उसको गैर अल्लाह के नाम पर जबा किया गया या तो यह है कि अल्लाह का नाम छोड़ के उसकी जगह गैर का नाम लिया जाए या यह कि अल्लाह का भी जिक्र किया जाए और साथ किसी और का भी जिक्र किया जाए दोनों सूरतों में वो चीज हराम हो जाएगी वो गोश्त खाना जायज नहीं होगा क्योंकि कुरान मजीद की शायद के जुमरे में आ रहा है उसको गैर उल्लाह के नाम पर जबा किया गया है गैर उल्लाह के नाम को बोलते हुए उस पर छुरी चलाई गई है तो कुरान मजीद बुरान रशीद ने उस जानवर का गोश्त इस्तेमाल करना हमारे लिए हराम करार दे दिया और उसको मुर्दार वाली लिस्ट में शामिल किया ये आया कुरान मजीद में मुतद मकाम पर मुख्तलिफ तरकीब से मौजूद है अब इसका गलत मतलब क्या दिया जाता है वमा उहिल्ला भी गैर का मतलब ऐसा तकरीबन डेढ़ सदी से मुतारफ करवाया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि मुतलकन जिस नाम पर अल्लाह के किसी बंदे का नाम ले लिया जाए किसी जानवर पर तो वो जानवर हराम हो जाता है था उसको जबा करते वक्त तकबीर कहते ही जबा किया जाए मिसाल के तौर पर यह कह दिया किसी ने कि ये दुम्बा जो है ये दाता साहब का है उस पर यह नाम बोला गया गैरुल्ला का और उसके बाद उसने जबा किया तो जबा उसने ये नहीं कहा कि बिस्म दाता बख्श गंजे बख्श या बिस्म अली हजवेरी जबा करके उसने कहा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर तो उस तबके ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया क्योंकि इस जानवर पर नाम तो बोला गया है गैर का कि ये दाता साहब के लिए है ये गौस पाक का दुम्बा है तो भागन्ना ये उसी लिस्ट में शुमार होगा उन लोगों की राय के मुताबिक कि जो मुर्दार वाली लिस्ट है क्योंकि उस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया है ये ताशुर दिया गया और इस तरह एक उम्मत में इंतशार और इफ्तराक की राय जो है वो इख्तियार की गई कि जिस जानवर पर भी ऐसा नाम आ जाएगा तो उसका गोश्त फिर जायज नहीं रहेगा उस गोश्त को माजल्ला मुर्दार गोश्त और फिलजीर के गोश्त के साथ शुमार किया जाएगा क्योंकि उस पर उल्लाह का नाम लिया गया है तो हमारे सादा लोग मुसलमान उनके लिए आखिर जब कोई आयत पढ़ रहा हो और आयत पढ़ के अपना मौके पेश कर रहा हो तो यह समझा जाता है कि अमानत से बोल रहा है ध्यान से बोल रहा है हक बात बयान कर रहा है और फिर कुरान सामने है तो फिर सच कह रहा होगा तो इस तरह नस्ल नौ को बरगलाया जा रहा है यहां तक कि बच्चे जो स्कूलों में जाके या मुख्तलिफ गैर मुस्तनद मदारस में जाते ऐसी बातें पढ़ आते हैं अपने घरों से घर वालों से झगड़े शुरू हो जाते हैं कि बाप को कहते हैं कि तुम तो मुशरक हो ग्यारहवीं का खत्म दिलाते हो अम्मी से झगड़ा हो जाता है तो तुम मुशरका हो ये तुमने शुरू कर रखा है गौस पाक के नाम की चीजें देते हो तो ये इससे यहां तक के यूं समझो कि जैसे कुएं में कुछ जहर शामिल कर दे ऐसी कैफियत फिर घरों में बन जाती है इल्ला माशाला अगर अल्लाह हिदायत दे दे तो फिर मसला सही हो जाता है वरना जहर मिलाने वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी और यहां तक घर घर में फितना पैदा करने की कोशिश की है तो हम ये बात वाजे करना चाहते हैं रमजान मुबारक भी है अशर रहमत भी है अशर मफरत है और अल्लाह का घर है और नजूल कुरान का महीना और फिर ये हमारी ग्यारहवीं किस्त है और ग्यारहवीं दिन है और ग्यारहवीं की बात की जा रही है ये एक इतफाक ऐसा हो जाता है यानी जब से किस्त हमने शुरू की है तो इसकी बारी अभी आई है और ये सोचा नहीं था कि इसको ग्यारहवें नंबर पर बयान करना ये सोचा इस रमजान में है लेकिन एक तरतीब है बंदा चीज ने कुरान मजीद हिफ्स किया तो पहला मुसल्ला बिक्की शरीफ सुनाया और इतफाक यह था कि ग्यारहवा बगदाद शरीफ सुना यानी और बगदाद शरीफ में भी हजरत गौसे पाक रहमत के दरबार शरीफ पर सुनाया ग्यारहवीं वाले पीर के पास तो ये कुदरती इत्तिफाक अल्लाह की तरफ से ऐसा बन जाता है अब ये आया करीमा बिल्कुल इसमें किसी को शक हो ही नहीं सकता शक करेगा तो काफिर हो जाएगा अल्लाह का कुरान है मगर जो मतलब निकाला जा रहा है वो झूठा हजरत अली रजी अल्लाह तला के सामने एक बंदा खड़ा हो गया था नसबुर्रा में लिखा है अली इसकी किताब है कूफा में तकरीर कर रहे थे एक बंदा खड़ा हो गया उसने कहा अली मैं तुझे मोमिन ही नहीं मानता चे जाए कि तुम अमीर उलमोमिन कहलाओ जो अमीर उलमोमिन होता है वो मोमिनों का अमीर है तो खुद मोमिन तो होता ही है तो कह रहा कहने लगा मैं तुझे मोमिन ही नहीं मानता अमीर उलमोमिन कैसे मानूंगा तो आपने फरमाया क्यों मुझे क्या है क्या मैंने गलती की उसने कहा तुमने कुरान की मुखालफत की है अल्लाह फरमाता इनिल हुक्म इल्ला हुक्म सिर्फ खुदा का है और तुमने हजरत मेरे माविया रजी अल्लाह तला से सुलभ के लिए एक पैनल तस्लीम कर लिया तुमने कहा है अमर बिन नाश और हज अबू मुसाशरी रबी अल्लाह तला जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है तुमने गैर अल्लाह के फैसले पर अपना एतमाद जाहिर कर दिया अगर नुकता नजर कुरान का जो है उसके लिहाज से तुम दीन से खारिज हो गए हो हम तुझे अमीर उमोमिन कैसे माने तुम तो मोमिन भी नहीं हो जब हजरत अली रजी अल्लाह तला ने आयत सुनी फरमा लोगो आयत सौ फीसद सच्ची है इनिल हुक्म हुक्म सिर्फ अल्लाह का है कले कलिमत हक उरीदा हल बातिल बात आयत बिल्कुल सच्ची है लेकिन जो मतलब ये ले रहा है वो सौ फीसद झूठा है इसने जो इससे मतलब ले लिया कि हुक्म अल्लाह का और वो आगे किसी तरह मुतवजह नहीं होता रब्बुल जलाल का हकीकत में हुक्म है और वो अपने बंदों को हुक्म का अमीन बना देता है यहां तक कि इस बास में चू वाली किस्तों में ये बात आ चुकी है अल्लाह तला फरमाता है शिफा का बैन हेमा फबासू हकम मिनाली ही वह हकम हा अगर मीना बीबी का झगड़ा हो जाए एक फैसल मर्द की तरफ से एक फैसल औरत की तरफ से उसको मजन करके मसला हल किया जाए मैं जब एक घर के मसले में दो हकम मानना जायज है तो पूरी उम्मत के झगड़े को मिटाने के लिए कैसे हराम हो जाएगा लिहाजा अल्लाह का हकीकत में है और बंदों के साथ अल्लाह का दिया हुआ हुक्म है जो अल्लाह के दिए हुए कानून के मुताबिक वो फैसला करेंगे तो आप देखो अमीर उलमोमिन को सामना करना पड़ गया एक ऐसे भगौड़े का जो कुरान पढ़ के अमीर उलमोमिन के ईमान का इनकार कर रहा था तो आपने फरमा लोगों बात बिल्कुल ये आयत बिल्कुल सच्ची है मगर जो मतलब निकाल रहा है वो झूठा है ऐसे हम कहते हैं बाबा उहिल्ला भी लेकिन आयत बिल्कुल सच्ची है और जो ये मतलब लोग निकाल रहे हैं वो मतलब बिल्कुल झूठा है हमारे पास गारंटी क्या है कि हम वैसे कहते झूठा है नहीं पुराने मजीद बुरहान रशीद की आयत की तशरी के लिए पहला जबता यह है सारे मुफसरी ने जो लिखा कि कुरान की पहली तस्वीर खुद कुरान करता है कुरान मजीद की एक आयत जो एक जगह है वो दूसरे मकाम पर आयत की तफसील मौजूद है वो खुद कुरान ने कर दी है या हदीस ने कर दिया उसके बाद जाकर फिर ग्रामर से और जो उसूल है दीगर उनको देखा जाता है तो कुरान मजीद कुरान रशीद में हमारे सामने अल्लाह का यह फरमान मौजूद है हर को कायनात फरमाता है अले खाओ उससे जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया फलू निम्मा उस जानवर से खाओ मिम्मा जुक रसमुल्लाह जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया इन कुल तुम मोमिन अगर तुम ईमान वाले हो फतलू मिम्मा जुक रसमुल्लाह बहस उस जानवर की चल रही है कि जिस जानवर को जबा करते वक्त गैर का नाम नहीं लिया गया क्योंकि अगर जबा करते वक्त छुरी गैर के नाम से चलाई जाएगी तो फिर क्या सूरत हाल है फिर हमारे नजदीक भी हराम है वो जायज नहीं है जिसको गैर के नाम के साथ जमा किया जा रहा है झगड़ा तो इसमें है कि जिसको पहले एक महीना कह दिया या एक साल कह दिया या एक हफ्ता कह दिया या एक दिन कह दिया या एक घंटा कह दिया जानवर खरीदा तो कहा यह दाता साहब के इशारे स्वाब के लिए है या दाता साहब का है या खाजा साहब का है या ये हजरत अली रबी अल्लाह तला के इशारे स्वाब के लिए है कोई नाम ले लिया मगर उसके बाद दो शर्तें हैं हमारे नजदीक एक उस बंदे के दिल में यह बात मौजूद है कि इसके अंदर मेरी नीयत जो तकर्रम की है वो सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है इबादत उसकी कर रहा हूं इबादत उसके लिए है मगर इस जानवर के गोश्त का जो स्वाब मिलेगा वो स्वाब मैं दाता साहब को पहुंचाना चाहता हूं वो स्वाब मैं खाजा साहब को देना चाहता हूं मैं ये चाहता हूं कि माल मेरा है यकीन खा जाए फकीर खा जाए और शराब इसका हजरत गौश पाक रहमत ने को हो जाए ये नीयत है और ये कह दिया था कि ये गौश पाक की ग्यारहवीं का है या ये दाता साहब का है लेकिन जब छुरी चलाई है तो ना अल्लाह के नाम से पहले दाता साहब का नाम लिया ना अल्लाह के नाम के बाद दाता साहब का नाम लिया ना अल्लाह के नाम की जगह दाता साहब का नाम लिया वहां छुरी चलाते वक्त नाम लिया तो सिर्फ खुदा का नाम लिया बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर उस जानवर को सवा कर दिया ये बहस इस जानवर पर है और अल्लाह का कुरान कह रहा है फकलू मिम्मा जुक रसमुल्लाह है जिस पर अल्लाह का नाम लिया जा रहा है उसको खाओ इन कुन तुम मोमिन अगर तुम्हारे दिलों में ईमान मौजूद है रबेसुल जलाल बाजे फरमा दिया कुलू मिम्मा जुक रसमुल्लाह जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया रबुल जलाल का नाम जिस पर लिया गया उसको खाओ हुक्म दिया अगर तुम्हारा ईमान है और फिर दूसरे नंबर पर रबुल जलाल ने फिर माना तुम अल्लाह का कुलू मिम्मा जुक रसमुल्लाह वकत फसल तुम माँ हर्रमा अले क्या है तुमको कि तुम वो गोश्त नहीं खाते जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है हालांकि जो हराम था वो तो रब ने वाजा कर दिया है और जो हलाल है उसको अलादा बयान कर दिया है तो खाल के कायनात जला जलाल के कुरान की दो आया इस बात को वाजे कर रही है कि जिस जानवर पर अभी लोगों ने तो इसमें और तारीफ करके जानवर के अलावा खाना भी शामिल कर दिया कि जिस खाने पर नाम आ जाए हालांकि आयात जो है वो जानवरों के बारे में है और जानवर वो कि जिसको जबा किया जा रहा है अल्लाह के गैर के नाम के साथ को हराम कर दिया गया है और जिस नाम को औलिया की तरफ अम्बिया की तरफ मंसूब किया गया है और मंसूब करने का सबब स्वाब पहुंचाना है इबादत करना उनकी नहीं उनको स्वाब पहुंचाना है उन जानवरों का गोश्त खा लेना ये अल्लाह के कुरान की दो आयात में हुक्म मौजूद है फकुलू मिम्मा जुकी रसमुल्लाह अलह और दूसरे नंबर पर रबी जुल जलाल ने फरमा वमालकुम अल्लाह का कुलू मिम्मा जुबिर अलई वक़द फसल अलकुम माहर्रमा अलकुम वजुल जलाल ने ये वाजह कर दिया कि जिस वक़्त उसमें नाम मेरा लेकर जबा किया जा रहा है और मोमिन जमा करने वाला उसके दिल में है कि इबादत सिवाय रब के किसी के नहीं और ये रूह जो निकल रही है इस जानवर की तो वो रूह मैं नहीं पहुंच पाक के लिए पेश करना चाहता मैं सवाल पेश करना चाहता हूं और जानवर को जबा कर रहा हूं तो वो जानवर अल्लाह के लिए जबा कर रहा हूं किसी और की रिजा के रसूल के लिए जबा नहीं कर रहा अब यहां पर यह बात इसको जरा आवामी सतह को समझने के लिए क्योंकि मैं लफ्ज तकर्र बोलूंगा तो अरबी का लफ्ज है और ताजीम अरबी का लफ्ज है और फिर अगला मामला दिल का है नीयत कैसी है जो जमा कर रहा है तो इसको अमलन समझिए इस तरह कि आप में से आवाम में से जो शख्स मिसाल के तौर पर एक दुम्बा दाता साहब के लिए दे रहा तो वो इसको कब समझेगा कि अब मेरी तरफ से पेश हो गया अगर ऐसा किया जाए कि छुरी चलाई जाए और उसके बाद वो कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए छुरी चलाई जाए या उसके बाद वो जाया कर दिया जाए तो जाहिर से जाहिर बंदा भी कहेगा बंदों ने तो उठाया ही नहीं मेरा तो डुम्बा जाया हो गया और जाहिल का भी ये अकीदा है यानी जाहिल से मुराद ये है कि जो दीन के रूम का कोई माहिर नहीं वैसे तो उसको इल्म है कि ये दीन है ये ईमान है उस लिहाज से उसको इल्म है वो समझता है कि मेरा दिया तब बनेगा कि जब जमा करने के बाद उसका गोश्त बांटा जाए उसका गोश्त बंदे खाएं उसका गोश्त इस्तेमाल किया जाए न कि उसका गोश्त माजला कुत्तों के आगे डाल दिया जाए या कहीं बहा दिया जाए ये हर इंसान के जहन में बात मौजूद है अगर सिर्फ जबा करने से पूरी हो जाती होती बात तो फिर यह समझा जाता कि जबा दाता साहब के लिए किया जा रहा है जबा करने वाले के दिल में यह मौजूद है कि जबा खुदा के नाम पर है और जबा खुदा की इबादत के लिए है मगर लोग जितने गोश्त खा जाएंगे वो सवाब दाता साहब गुरु को पहुंच जाएंगे तक ये समझ भी ले अगर किसी को समझ नहीं हमारा मसलत जो है वो ये है दो शरात है इसमें कि नाम बोला गया किसी वली का किसी जानवर पर तो उसका ये मकसद है कि इस चीज का सवाब हम उन तक देना चाहते हैं और सवाब की जरूरत है अल्लाह के बलियों को अल्लाह को सवाब की जरूरत नहीं वो हर जरूरत से पाक है वो स्वाब लेता नहीं वो तो स्वाब देने वाला है उसके लिए जानदार इबादत के तौर पर सवा किया जा रहा है और अल्लाह के वलियों के लिए उसके स्वाब की जरूरत है फकीर खा जाएंगे अमीर खा जाएंगे जिस तरह की उस सबके की सूरत हाल होगी उसी के मुताबिक तो वो जानवर कुरमूर होगा उसका गोश्त बरकत वाला होगा और उसको खिंजीर के साथ उस कैटागरी में शुमार नहीं किया जाएगा बल्कि उससे खाने वालों को रहमतों का शरीर भी मुयसर आता रहेगा अब इस सिलसिला में दो आयात मैंने करीब करीब पुराने मजीद से एक तीसरी पुराने मजीद से पेश करके इसकी हैसियत को वाजे करना चाहते हैं कि रब्बुल जलाल ने अंदाज में इस चीज को हमारे लिए कुरान से वाजे कर दिया हर के कायना जल्ला जलाल इर्शाद फरमाता है वमा जामिन बहीरा वला साइबा वला वसीला वला शाम रबसुल जलाल ने कोई बहीरा नहीं बनाया कोई साइबा नहीं बनाया कोई वसीला स्वाद के साथ नहीं बनाया और कोई हाम नहीं बनाया ये चार किस्म के जानवरों का जिक्र किया कुरान मजीद में जिक्र क्यों किया कि कुछ जानवरों को मुशरक अपनी तरफ से हराम कर लेते थे कि अब इन जानवरों पर सवारी जायज नहीं इनका गोश्त खाना जायज नहीं इनका दूध पीना जायज नहीं बुतों के लिए रखे हुए हैं तो अल्लाह तला फरमाता है कि जो मैंने हलाल पैदा किए तुम्हारी इथार्टी क्या है कि तुम उनको हराम कर सको अब फर्क देखना यह सोच कहती है कि हलाल जानवर पर वली का नाम बोला गया और उसके बाद जरा के वक्त अगरचे अल्लाह का नाम बोला जा रहा है तो वह जानवर हराम हो चुका कुरान कहता है अगरचे जानवर पर बुद्ध का नाम किसी ने ले लिया मगर फिर अकीदा सही हो गया जबा करते वक्त बुद्ध का नाम नहीं लिया अल्लाह का नाम ले लिया बुद्ध का नाम लेने पर भी फरमाया वो जानवर हराम नहीं होगा जब अल्लाह का नाम लेके के जबा करोगे वो जानवर हलाल हो जाएगा करना चाहता हूं ये चार तरह के जानवर जिनका पुराने मजीद में जिक्र किया गया तो इनमें से हर एक की थोड़ी सी तफसील बहिरा उस ऊंटनी को कहा जाता था जो बुतों के नाम पर छोड़ दी जाती थी और उसका दूध पीना नाजायज करार दे दिया जाता क्योंकि ये बहिरा है ये फुला बुत की है इसका दूध पीना किसी के लिए जायज नहीं तो ये उन्होंने अपनी तरफ से उसके आगे हराम की दीवार खड़ी की तो ये बहीरा है इसका दूध किसी के लिए जायज नहीं है सावा जो है वो जानवर होता था कि जिस पर सवारी को नाजायज करार दे दिया जाता क्योंकि बुतों का है फला बुत के नाम का है लिहाजा इस पर कोई सवार नहीं हो सकता बाकी जानवरों पर कोई सवारी करे फला जानवर जो है इस पर सवारी जायज नहीं इस वास्ते कि इसको साइबा करार दे दिया गया है वसीला उस उजने को कहा जाता था बार जन्म देती थी तो गोती जन्म देती थी यानी बच्ची जन्म देती थी माता उठनी तो उसका एजाज लिया जाता था कि इसने अच्छा काम किया है इसको बुतों के नाम पे छोड़ देना चाहिए उसके बाद उसको बुतों के नाम पे छोड़ दिया जाता था कि अब इससे कोई काम ना लिया जाए इसको गोश्त ना खाया जाए इसको इस एजाज में बुतों के नाम पर छोड़ दिया और बाकी हर चीजों के लिहाज से इसको ममलू करार दे दिया गया है ऐसे ही एक अंदाज हामी का है हामी उस ऊंट को कहते हैं कि जिससे कई ऊंटनियां जो हैं वो हामला हुई हो और उन्होंने बच्चे दिए हो अब उसके बाद उस ऊंट को छोड़ दिया जाता कबूतों के नाम पर कि इस ऊंट को कोई सवारी ना करे उसका कोई गोश्त ना खा ये चीजें हैं तो अब उन्होंने अपनी तरफ से जब ऐसी दीवारें खड़ी की रबुल जलाल ने उनके मजहब को रद्द करने के लिए आयत नाजिल कर दी माँ अल्लाह अल्लाह ने नहीं बनाया अल्लाह ने हराम नहीं किया तो तुम हराम कैसे कर सकते हो तो अब इस बात पर ऐलान किया जा रहा था कि जिसे तुम जिसका गोश्त हराम समझते हो अल्लाह का नाम लेके जबा करो हलाल शुमार होगा जिसको बुतों के नाम पर छोड़ा गया था अल्लाह के नाम से छुरी चलाने का कमाल यह है कि बुद्धों के नाम पर किया हुआ भी हराम ना रहा और वो भी हलाल हो गया कुरान कह रहा है माँ चावल्ला में बहीरा रबेसुल जलाल कह रहा है कि तुमने बुद्धों के नाम पर इनको छोड़कर इनके दोस्त बंदों के लिए हराम कर दिए थे और आप चलाओ छुरी मेरे नाम की ये हराम नहीं रहेंगे गोश्त हलाल हो जाएगा अल्लाह मिन बहीरा वला साहिबा वला वसीला वला हाम अब देखो कितना डिफरेंस है दो बातों के दरमियान इधर रौस पाक का नाम आ जाए उसके बाद जमा के वक्त बिस्मिल्ला अल्लाह पर कहा जाए तो इन लोगों को इतने बेलगाम है उस गोश्त को उस खाने को माजल्ला हराम और मैदा का लफ्ज पर बोल रहे हैं जब रबे जो जला फरमाता तुम्हें मेरे नाम की इज्जत का पता नहीं कि मेरे नाम का कमाल क्या है अल्लाह के इसम में बरकत कितनी है परमा कुलू मिम्मा जो के रसमुल्ला लोगों ये जो काफिरों ने छोड़ रखे हैं और उनको कहते हैं कि हराम हो चुके हैं पर फरमा इनको पकड़ो मेरे नाम से जबा करो आराम नहीं हलाल हो जाए और यहां तो दो फर्क है क्योंकि जो गौस पात्र के दिया गया इसमें तो इबादत का तो तस्वूर नहीं वहां साहिबा में वसीला में आम में बहीरा में इबादत का कंसेप्ट था कि बुद्धों की खुशनुती और रिजा और तकल्लुम के लिए उसको छोड़ा जा रहा था और यहां किसी अल्लाह के बंदों की इबादत के लिए नाम नहीं बोला जा रहा तलबे स्वाब के लिए बोला जा रहा है और फिर जब जमा किया जा रहा है तो वहां यह भी पाबंदी की जा रही है कि अगरचे आप भी नीयत इबादत की खुदा के लिए है मगर लफ्जों में भी अल्लाह के बंदे का जिक्र नहीं करना उस छुरी चढ़ाते वक्त जो जिक्र करना है तो रब से जलाल का जिक्र करना है लिहाजा अल्लाह का कुरान कह रहा है फकलू मिम्मा जिक्र रसमुल्लाह जिस पर अल्लाह का नाम लेकर उसको जबा किया जा रहा है उस सिलसिला में तुम्हें कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए अल्लाह ने वो तुम्हें पाक रिस्क अदा फरमाया है अब तीन आयात इस आयत को समझने के लिए मैंने तुम्हारे सामने पेश की ये तीन आयात तफसीर है इस आयत की कि माँ उहिल्ला भी लगैर या माँ उहिल्ला लगैर भी का मतलब क्या है इसके बाद हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में है और नसाई शरीफ में भी जुदा है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत इतबान बिन मालिक गए थे हमने चूंकि तफसीर इसकी ये बयान करनी है जो शुरू से आ रही है माँ उहिल्ला बिही लहैर या माँ उहिल्ला लहैर बिही क्योंकि दोनों तरह आयत है इसका माना यह कर रहे हैं कि जिस पर वक्त जबा गैरुल्ला का नाम लिया जाए वक्त जबा या यूं को जिसको गैरुल्ला के नाम से जबा किया जा रहा है गैरुल्ला के नाम से गैरुल्ला का नाम कह के जबा किया जा रहा है ये तफसीर है जो शुरू से आ रही है और दूसरा जिस पर गैरुल्ला का नाम लिया गया जबा का वो लोग नहीं जिक्र करते मां उहिल्ला भी गैर तो वो लोग मना कर रहे हैं जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया गया खास बात से पहले लिया जाए तो फिर भी हराम हो जाएगी हम ये कह रहे हैं कि जिस पर वक्त जमा गैरुल्ला का नाम लिया गया वो चीज हराम हो जाएगी या शार्ट तर्जमा यह है कि जिसको गैरुल्ला के नाम के साथ जमा किया जा रहा है अब इसमें लफ्ज इहलाल है जिससे उहिल्ला बना इहलाल तो अरबी जुबान में शुरू शुरू में इसका जो इस्तेमाल था तो वो उस आवाज को कहते थे कि जब चांद नजर आता था तो खुशी से लोग आवाज निकालते इसको एहलाल कहा जाता हर ऊंची आवाज को नहीं चांद निकलने पर जो आवाज ऊंची होती थी उसको एहलाल आ हाँ के साथ आ हाँ, लाहौरी जो है एहलाल दूसरी तो ना एहलाल जिसका माना होता है हलाल करना ये ओहिल्ला हा इसका इब्तदाई माना क्या था कि रफ सौ चांद देखते वक्त हिलाल चांद को कहते चांद नजर आया तो आवाज निकली और दूसरा इहलाल का माना होता इहराम बांधना इहलाल मुहिल अब इसके बाद क्योंकि अल्फाज जो है उनमें हम हर चीज का पस मंजर देखते हैं तो आगे तब्दीली इस्तेमाल में आती है मिसाल के तौर पर लफ्ज सलाद जब कुरान नाजिल हुआ था तो उस वक्त इस लफ्ज का माना अपने चंद आजाद को हरकत देना था लेकिन अब खास इबादत में इस्तेमाल होता उधर किसी की तवज्जो नहीं जाती कि फुला उज्र की हरकत देने को सलाद कहा जाए तो यह आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज के अंदर आता है उनका माना और यह नकल और उर्फ यह लोगत में मोतबार होता है तो जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त तक यह लफ्ज एलाब इतना अपना डिस्टेंस तय कर चुका था कि अब उस आवाज पर कि जो चांद के देखने पर बुलंद की जाए उससे अगले मरतबे में यह इस्तेमाल होता था मुतलकन किसी चीज पर आवाज को ऊंचा करना इसके बाद तीसरे मकाम पर आ गया कि किसी चीज का जिक्र करना अगरचे आवाज बुलंद ना भी किया जाए तो अब क्या होगा वमा को हिल्ला ले गैर वो जिस वक्त उसको जमा किया जाने लगा इस्लाम का माना जब नजूल कुरान हो रहा था उस वक्त ये जबा के माने में जो जबा के वक्त जिक्र किया जाता उस तक पहुंच चुका था बमा तो हिल्ला बिहीन ले गैरुल्ला वो जिसको गैरुल्ला का नाम लेके जबा कर दिया जाए अल्लाह ने फरमाया वो जानवर हमने तुझ पर हराम कर दिया है अब इस पर हवाला जात पेश करने कि उस वक्त की जरूरत में यह माना मौजूद था और यह गुंजाइश दिखानी है कि बाकी कुरान सुन्नत में है कि एक काम के दो पहलू हो सकते हैं एक है उसमें इबादत का पहलू दूसरा उसमें सवाब का पहलू इबादत खुदा के सिवा किसी की नहीं और सवाब खुदा लेता नहीं खुद देने वाला है हदीस है हजरत इतबान बिन मालिक रबी अल्लाह तला की बुखारी शरीफ में नौ दस मकाम पर मौजूद है एक मकाम से अर्ज कर रहा और मिसाइली अल्फाज ये है जो तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूं हजरत इकबान बिन मालिक रबी अल्लाह तला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि को जाकर दावत दी थी कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि आप मेरे घर में तशरीफ लाए एक जगह पर नमाज पढ़े ताकि मैं उसको अपने लिए मस्जिद बना लू दो जुदा लफ्ज मौजूद है या तो हजरत इतबान नाबीना हो गए थे या नजर बहुत कमजोर हो गई थी और कहा कि दरमियान में वादी या वादी के पार मस्जिद है जहां मैं इमामत कराता रहा हूं अब जाना मुश्किल हो गया है नाबीना हो गया हूं तो या रसूल अल्लाह सल्लाह वसलम मेरे घर तशरीफ ले आइए तो मेरे घर आके नमाज पढ़ो ताकि उस जगह मैं पक्की कर लूं और हमेशा नमाज पढ़ता रहूं रसूल अल्लाह सल्लाह वसलम ने अपने गुलाम की इस चाहत को कबूल कर लिया कि ठीक है तुम इस बात से मुझे बुलाना चाहते हो तो मैं आता हूं नमाज पढ़ता हूं अब शहादी का शौक यह है कि नमाज पढ़ूंगा सजदा रद्द करता रहूंगा याद नबी भी राखी रहेगी इस जगह सरकार वसलम ने नमाज पढ़ी थी मैं उसी जगह पढ़ूंगा अब जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लाह वसलम घर में तशरीफ ले गए जो लफ्ज जाके बोले वो लफ्ज मेरे काबिल गौर लफ्ज है गए तो पूछा और ये कर्म है हमारे महबूब सलाम का कि जिनसे रब मर्जी पूछता है फलन वल्यन्न का किबला तन कर वाहा महबूब किबला पसंद तुम करो बना हम देंगे तो जो तुम पसंद करो जो तुम पसंद करो वो किबला हम बनाएंगे पसंद तुम्हारी होगी बनाना हमारी तरफ से होगा अब वो महबूब उन्नति के घर गए हैं तो जाके पूछते हैं अपनी तरफ से भी किसी कोने में खड़े होकर पढ़ सकते थे पूछा ऐना तुहिब्बु अन उसलिया लाका मेरे सिहाबी तुझे कहां पसंद है कि मैं तुम्हारे लिए नमाज पढ़ू आई ना तो हिब्बो अन उसलिया लाका ये लाका जो है ये बतौर खास दलील है ऐ ना तो हिब्बो अन उसलिया लाका तुझे कहां पसंद है कि मैं तुम्हारे लिए नमाज पढ़ू हालांकि पहले दिन से दावत तो हमारे नबी सलाम की यह है कुल इन सलाती व की व महिया व ममाती लीला रब्बिल आलमीन महबूब इनको कहो कि नमाज अल्लाह के लिए सजदा खुदा के लिए है ये सारी दुनिया को बताने आए हैं कि नमाज खुदा के लिए है और इतबान को जाके कहती है बता कहां तेरे लिए नमाज पढ़ो अई न तो तुहिब अन उसलिया लाका ये लाम उनसे जाना से इस पर सारी बहस है और इसमें यह मसला खोल के बयान करना है कि वही नाम जिस वक्त कहते हो कि अशात शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी कि ये बकरी गौसे पाक के लिए है लाम इस्तेमाल होता है लिशैख ले अली हजरेरी लाम इस्तेमाल होता है अरबी में अब वही लाम हमने नहीं इस्तेमाल किया हमारे महबूब सलाम ने इस्तेमाल किया और बात बकरी दुम्बे की नहीं ये सगली बात है ये सदका तो बात की बात है यहां सदका नहीं सजदे की बात हो रही है सजदे की बात हो रही है सजदा और बुखारी शरीफ और नसाई शरीफ और फरमान हमारे आका सल्लाम का अल्लाह तो हिब्बो अन उसलिया लाटा बता मेरे सिहादी तुझे कहां पसंद है कि मैं तेरे लिए नमाज पढ़ू जो तोहीद सिखाने आए हैं ये क्यों कहते हैं तेरे लिए नमाज पढ़ू क्यों नहीं कहते अल्लाह के लिए नमाज पढ़ू अल्लाह तुम्हें को अन उसल अल्लाह का तुझे कहां पसंद है कि मैं तेरे लिए नमाज पढ़ू मेरे महबूब सलाम कोई और भी तरकीब इस्तेमाल कर सकते थे और ये बोले बगैर नमाज पढ़ के उसके लिए उनके लिए मस्जिद बना सकते थे मगर उनको क्यामत तक के बिगड़े हुए लोग भी नजर आ रहे थे कि जब वो मेरे गुलामों से झगड़ेंगे तो मेरे गुलाम अपनी तकरीर ना सुनाए मेरी तकरीर सुना कर सुना कर दे और ये याद रखें उन सौ फीसद जिम्मेदारी से मस्जिद के मेहराब में बैठकर रमजान मुबारक के लम्हात में कुरान की बात कर रहा हूं और नबी सलाम के फरमान की बात कर रहा हूं आल सुन्नत उस मसले को नहीं कहते जिसकी बुनियाद खोखली दीवारों पर हो या रेतली दीवारों पर हो या जिसकी बेस जो है वो डेढ़ ईद की मस्जिद पर हो नहीं आल सुन्नत उन नजरियात को कहते हैं जो शिक्षा से चल के आए हैं जो नबी सलाम ने समझाए हैं सिहाबा ने पढ़ के आगे पहुंचाए हैं हजरत इकबान बिन मालिक नबी इस्लाम इतना फरमा सकते थे काफी थे आई ना तो हिब्बू अन लिया कहा चाहते हो मैं नमाज पढ़ू लेकिन लाका कहा आई ना तो हिब्बू अन लिया लाका कहा चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए नमाज पढ़ू लाका बोलकर कई लाख खोल दिए लाका आई ना तो हिब्बू अन लिया लाका आज गली मोहल्ले में जो लोग उलझते हैं उनको दिखाओ सही बुखारी उनको दिखाओ आपका कुरान उनको पढ़ाओ ये हदीस के फरमान और उन्हें कहो खुद साख्ता नजरियात को तर्क करके उस छतरी के नीचे आ जाओ जो अल्लाह के नबी सलाम ने अता फरमाई है पाक खाने को उलट रहे हैं फेंक रहे हैं चोरी चोरी खा भी रहे हैं और साथ तत्वे भी लगा रहे हैं लेकिन अल सुन्नत नजरियात का नाम है जो अंदर है वही बाहर है जो बाहर है वही अंदर है दूध का दूध पानी का पानी है हजरत इकबाम बिन मालिक रजल्लाह अनहो से कहा अन्न तुहिब अन उसलिया लाता तुझे कहां पसंद है कि मैं तुम्हारे लिए नमाज पढ़ू लाका बोला तो लाख खुले और ये दिल से आवाज आती है महबूब कितना कर्म है तुम्हारे हाथ जुमले में तेरी नजर खारदारे शब्द में गुलाब तहरीर कर चुकी थी उजाड़ नींदों के खाब में इनकलाब तहरीर कर चुकी थी मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी ये खाक है ना जिसपे सर रखा महबूब सलाम ने हजरत इतबान के घर नमाज पढ़ी तो मसला ग्यारहवीं का हल हो गया तो तुहिब अन उसल्ली अल्लाह का तुझे कहा पसंद है कि मैं तुम्हारे लिए नमाज पढ़ू अब पूछा गया ये लाका का मतलब क्या है नबी अलैहिस्सलाम को सलाम तो लीला का नारा लगाने वाले हैं लीला अल्लाह के लिए सजदा अल्लाह के लिए सजदा अल्लाह के लिए नमाज अल्लाह के लिए तवाब अल्लाह के लिए जिहाद यहां कहते हैं नमाज तेरे लिए इतबान तो मतलब क्या बना तो मेरे महबूब सलाम वाजे कर रहे थे मेरी उम्मत समझो लाम के दो माने हैं लाम लाका लिल्ला लेवाज हिलना ले शेख अब्दुल कादिर जिलानी लाम के दो माने हैं ले इतबान ले शेख लिल्ला लाम के दो मानी है फरमान मैं पढ़ के नमाज इतबान के घर में बताऊंगा लाम एक बोला है काम दो किए है लाम एक है काम दो है फरमान सजदा रब की जात को तो है बरकत अपने इतबान के लिए है फेल एक है नमाज पढ़ने का मगर उस फेल के अंदर चीजें दो हैं ऐ न तुहिबू अन उसल लिया लाता अब हजरत इतबान के लिए लाम होगा तो मतलब क्या होगा ए कहां पढ़ू नमाज तुझे नवाजने के लिए तुझे बरकत देने के लिए तेरे घर को बरकत देने के लिए कहां पढ़ू नमाज तुझे बरकत अदा करने के लिए अब लाम एक है काम दो है इस नाम को यही सजदा लीला भी है यही सजदा लेतबान भी है लीला है इबादत का और ये निजत दरम्यान में आ गई कि यहां सजदा करूंगा नमाज पढ़ूंगा बरकत मेरे इतबान को मिल जाएगी ऐसे ही बिला तमसील हर लिहाज से तस्वीर जामे बयान करना वो दावा नहीं है लेकिन इस जिहत में बयान कर रहा हूं जिस वक्त एक इंसान ये कह रहा है ये दुम्बा गौस पाक का है ये बकरा दाता साहब का है ये खाजा साहब का है तो उसको पता है अगर चे बुखारी पड़ा हुआ नहीं है वो जहल भी जानता है कि इसमें इबादत का पहलू रब्बे कायनात के लिए है और सवाब का पहलू अल्लाह के औलिया के लिए है ये तो सदका है सदे से दूर की बात वहां सजदे में सरकार ने फरमा दिया कि मैं नमाज पढ़ने लगा हूं अई न तुझी बुअन उसलिया लाता तुझे कहां पसंद है कि मैं तुम्हारे लिए नमाज पढ़ूं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज बोलकर ये बता दिया कि इस तरह है नेक काम में जो इबादत का नुकता है वो सिर्फ खुदा के लिए है सिर्फ खुदा के लिए उसमें एक फीसद भी शिरक जायज नहीं वो सिर्फ खुदा के लिए है और आगे उसने जिस वक्त उसने पहले कर लिया इरादा है कि इसका सवाब फुला अली को पहुंचे फुला को पहुंचे तो अब इसमें कोई कवाहत नहीं है हमने ये लाका अपनी तरफ से नहीं बनाया ये लाका सरकार ने बना के अका करवाया है मोहतम सामी हजरात बात इंशाला आगे बढ़ रही है मौजू बड़ा अहम है और आप मुबारकबाद के मुस्तक हैं कि आप बरह रास्त इसके सामने हैं और इन पूरी दुनिया में ये कलम हक गूंजने वाला है इसके साथ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जिस मरकज में इन मौजूद का बयान होता है जान मस्जिद रजाबा अभी तक वो तकमील के मराहल में है और रमजान मुबारक का महीना है अब फ्रंट पर काम करना काफी बाकी रहता है तो मैं बतौर खास आप हजरात से और खातन से ये गुजारिश करूंगा कि मस्जिद के लिए अतीजात दिए जाए ताकि मस्जिद की तामील का काम अच्छे तरीके से किया जा सके और इसको भरपूर अंदाज में तामीर किया जाए क्योंकि ये जैसे मरकज कहलाता है तो इसकी बिल्डिंग इमारत के लिहाज से भी उसमें मरकजियत नजर आनी चाहिए कि अल्लाह का घर कुटिया जैसा भी हो तो वो अल्लाह के नाम की वजह से बहुत बड़ा घर होता है लेकिन एक जाहिरी हिस्सी तौर पर भी उसका एक रोग हो इस सिलसिला में बतौर खास आप इस बात की तरफ तवज्जो दें और वक्त ऐसा है मौसम ऐसा है जिसमें अल्लाह की तरफ से बड़ी नश्व नुमा हो रही है नेकी की आपका दिया हुआ थोड़ा सा पैसा रब के घर में अल्लाह उसको जरूर परवान चढ़ाएगा तो इस वास्ते खुलूस के साथ पेश करें और मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा दस हजार दे बीस हजार दे पांच हजार दे एक हजार दे खुलूस से कोई दस रुपए दे वो भी काफी है लेकिन हर बंदा दे जिसके पास भी दस मौजूद है वो जरूर निकाले और इस काम में डाले और कोशिश ये हो कि फिर दस ना हो क्योंकि ग्यारहवा दिन है और ग्यारहवीं का बयान है तो इस सिलसिले में उसमें मजीद इंशाला इजाफा होता जाएगा तो आप तमाम हजरात के पास ये हमारे जमीन मस्जिद के और इंतजामिया के अहबाब आ रहे हैं इनके साथ ताउन में मसरूफ रहिए और ये फिर आगे बात चलाने में ए, मुझे दुश्वारी भी नहीं होगी कि आप तवज्जो भी रखेंगे और उस काम की तरफ भी तवज्जो करेंगे ताकि मस्जिद का ये काम अच्छे तरीके से मुकम्मल हो सके इस सिलसिला में अगर किसी ने कोई वादा अपनी तरफ से करना हो पूरा करने के लिए तो वो अपना नाम पेश कर सकता है सीमेंट के लिए बजरी के लिए या इस तरह की जो दीगर जरूरी अशिया है उनके लिए तो अब ये जो तफसीर है हमारे हिल्ला गैर भी की कि जिसको जबा करते वक्त गैरुल्लाह के नाम पर जबा किया जाए अब इस पर गवाहियां पेश करना चाहता हूं हमारे हदीस शरीफ में सही मुस्लिम बहुत बड़ी किताब है इमाम नबी ने उसकी शरा की है और सही मुस्लिम के अंदर यह नबी असलाम का प्रमुख फरमान मौजूद है अल्लाह मन जाबा गैर जिसने गैरुल्लाह के लिए जानवर जबा किया उस पर अल्लाह की लानत इस हदीस की शरह में इमाम नबी ने लिखा कि इसका माना क्या है अल्लाह के लिए जमा करना अब आयत के मुताबिक की बनस्बत इस हदीस में ज्यादा आसान लफ्जों में मसला आ गया कि अल्लाह के अलावा किसी के लिए जमा करने पर जो लानत हो रही है तो वो कौन सा मजमून काम है कि जिसकी वजह से बंदा मलूर हो जाता है और वो चीज भी नाजायज हो जाती है तो इमाम नबी रहमत ने उस शर मुस्लिम के अंदर यह कहा किया उसने हराम किया उसका फेल भी हराम वो जरिया भी हराम तो ये उसका माना है वमा उहिल्ला भी लेगा कि पहले अगरचे उसका नाम लिया गया है मगर छुरी चलाते वक्त नाम लेना है तो सिर्फ खुदा का नाम लेना है ना खुदा के नाम की जगह किसी का लेना है ना खुदा के नाम से मिला किसी को किसी का लेना है सिर्फ रबुल का नाम होगा तो उस वक्त उस जानवर के खाने में फकलू निम्मा जुक्र रसमुल्ला अल्लाह फरमा रहा है खाओ ये वो है जो रब ने तुम्हारे लिए हलाल फरमाया है इस सिलसिला में चंद मुतकदमीन की तफासिर का हवाला भी देना चाहता हूं कि जब इख्तलाफ का जमाना नहीं था उम्मत की पहली सदी चौथवीं सदी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं सदी उन लोगों का इस आयत के बारे में यकीन क्या था वो भी कुरान पढ़ते थे तो वो तर्जमा क्या करते थे वो तफसीर क्या करते थे इस सिलसिला में मुतद तफासिर और मुतकदमीन की तफासिर हमारे पास मौजूद है मिसाल के तौर पर हजरत इमान बैजावी रहमत इस आयत की तस्वीर में कहते हैं रोफे आद ही सौ तो इंदा जब है ही माँ उहिल्ला बेहील का माना क्या है रोफे आद ही सौ तो इंदा जब है ही कि जिसको जमा करते वक्त गैरुल्ला के नाम की आवाज दी गई जमा करते वक्त छुरी चलाते वक्त अब इंदा जब है ही की कैद हमने अपनी तरफ से नहीं लगाया ये कुरान का तकाजा था सुन्नत का तकाजा था इमाम बैजाबी रहमत ने इसकी जो तफसीर लिखी और सदियों कबल उसने इस बात को वाजे कर दिया कि रोकिया भी सौ इंदा सब ही पहले किसी को मशहूर कर देना कि यह फुला का दुम्बा है इससे कुछ नहीं होता अगर सभा के वक्त गैरुल्ला का नाम लिया गया तो उसमें क्या होगा वो चीज हराम हो जाएगी वो चीज हराम नहीं होगी ऐसे ही तफसीर मदारक के अंदर इस बात को बयान किया गया मां जेब यानी असनाम कि वो जिसको जमा किया जाए तो बुद्ध के नाम पर जमा कर दिया जाए और तवाजीब के नाम पर जमा कर दिया जाए तो ये वो है जिसको हराम कहा गया तस्वीर मदारिक में मौजूद ऐसे तस्वीर मजहरी में जिस मकाम को जिस वक्त बयान किया जाता है तो कहते हैं माजो किरा इंदा सभी ही इस वो गैर कि जिस जानवर को जमा करते जमा कर गैर का नाम लिया जाए वो जानवर है जो कि हराम है जिसका गोश्त खाना जायज नहीं है इस पर फिर लोगत के इमामों की गवाहियां हैं इस पर ग्रामर के इमामों की गवाहियां हैं इस पर तफसीर के इमामों की गवाहियां हैं फिका हदीस के इमामों की गवाहियां हैं कि ये सूरत हाल मुतकदमीन के अंदर और दौरे मुतरीन तक इस तरह मौजूद रही कि सबका यह अकीदा रहा कि एक जानवर जिस पर अगर से किसी इंसान का नाम बोला गया है मगर जबा करते वक्त पाबंदी की गई है ए, उसमें नाम अल्लाह ही का बोला जाएगा और जिसने गैर का नाम आगे पीछे बोला है उस जानवर पर नीयत यह है कि इसमें इबादत का पहलू खुदा के लिए है सवाब का पहलू खुला अजीज या बनी के लिए है तो ऐसे जानवर में कोई कबाहत नहीं है इस्लाम की इस दौरे इख्तलाफ से पहले की जो 11 सदियां हैं वो ग्यारह सदियों का अकीदा और ग्यारह के बाद का अलहद का अकीदा भी इस बात की गवाही दे रहा है कि जो सुफा वालों का अकीदा था वही आज भी आल सुन्नत का अकीदा है इसको मजीद सिंपल अंदाज में समझना चाहते हो तो वो ये अंदाज ईद कुर्बान का वक्त होता है तो जानवर की कुर्बानी होती है जानवर की कुर्बानी होती है तो कुछ लोग काफी पहले खरीद लेते हैं कुछ हफ्ता पहले खरीद लेते हैं सवाल यह है कि काफी पहले खरीद के खुद उसको मोटा पिया जाए हसी दहाया तुम फैन वाला सिरा तुम अपाया तुम पर वह अपनी कुर्बानियों को मोटा ताजा करो ये कल पुलिस रात पर तुम्हारी सवारी बनने वाली है अब जिस वक्त कुर्बानी का जानवर बना हुआ है तो किसी ने पूछा ये जानवर किसका है या तो ये अब्बा जी की कुर्बानी के वो किसका वो भाई जी की कुर्बानी है वो किसके वो अम्मी जी की कुर्बानी है अब उस जानवर को बाप की तरफ मनसूब कर दिया गया उस जानवर को मां की तरफ मनसूब कर दिया गया उस जानवर को भाई की तरफ मनसूब कर दिया गया और ये सारे गैर नहीं है बाप है भाई है मां है जिसके साथ अपना कहते मेरी कुर्बानी है ये मेरा जानवर है ये मेरा जानवर है ये मेरी कुर्बानी है तो नाम बोला गया तो कभी किसी ने कहा कि अब छुरी चलाने से भी हलाल नहीं होगा क्योंकि गैर का नाम इसके बोल दिया गया मशहूर कर दिया गया कि ये फुला है सोचने की बात है ठेका उठा लिया है उन लोगों ने वलियों से दुश्मनी का अपने मामले पर हुई बातें जायज वरना इसको शिर कहा जाता और ये फतवे दिए जाते तो कुर्बानी का जानवर लेके उस पर नाम किसी का नहीं लेना चाहिए वो जब भी बोले तो अल्लाह का पूछे ये कुर्बानी किस है अल्लाह के लिए हर एक पर अल्लाह का नाम बोलो ये फतवा कोई नहीं देता और हर एक फखर से बताया कि नहीं ये तो मेरी कुर्बानी है ये तो मेरा जानवर है ये मेरा है ये मेरा है और उसके बाद जब जबा होता है तो उस वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर इस अंदाज में उस जानवर को जबा कर दिया जाता है छुरी चलती है खून निकलता है और किस अंदाज से निकलता है मेरे महबूब सलाम फरमाते हैं गर्दन और जमीन में फासला बारिश का है मगर गर्दन से निकलकर जमीन तक नहीं पहुंचता अल्लाह उससे पहले उस बंदे के गुनाहों को माफ कर देगा कितना जल्द पहुंचा अल्लाह के दरबार में और कितना बख्शिश का सामान बन गया तो अब क्या मतलब बना जो कह रहा था मेरी है मेरे बाप की है वो बता रहा था अगरचे दरसे निजामी नहीं पड़ा हुआ था उसको पता है कि कुर्बानी में इबादत वाला पहलू अल्लाह के लिए है सवाब वाला पहलू बाप के लिए है हर बंदे को पता जो कहते हैं ये मेरे बाप की कुर्बानी है ये मेरी मां की है उसने बोला गैरुल्ला कहना मगर फिर भी तोहहीद परस्त रहा फिर भी मुवाहिद रहा क्यों उसका यकीन है कि जानवर मैंने जबा अल्लाह के नाम की इज्जत के लिए करना है इबादत उसकी है कुर्ब उसका पाना है तकर्रब उसका लेना है और आगे शराब जो है वो मैंने अपने वालदेन को पहुंचाना है ये रायज है हर एक की जुबा पर इसका कोई इनकार नहीं कर रहा तो माँ को हिल का मतलब समझने के लिए अगर कुर्बानी का फलसफा सामने रख लिया जाए तो पर्दे हट जाएंगे कि अल्लाह फरमा रहा है पकलू मिम्मा जुक रसमुल्ला जिस पर अल्लाह का नाम बोला गया है वो जरूर खाओ बरकतें शामिल हाल हो जाएंगी मोहतम शामिल हजरात मजमून थोड़ा सा बाकी रह गया और जो अहबाब अभी तक ताउन नहीं कर सके वो ताउन करें ताकि फिर आगे गुफ्तगु का भी इख्ताम हो मुख्तलिफ हिस्से जो मस्जिद के हैं अहबाब वहां पे खड़े रहे और लोग जो नमाजी हैं उनसे कहूंगा कि बहुत जल्द अपनी तरफ से जितना जितना भी हिस्सा दाखिल करवाना चाहते हैं वो जरूर करवाएं कोई भी महरूम न रहे खा हाँ, को थोड़ा दाखिल करवाना चाहता है या ज्यादा जरूर अपनी तरफ से हिस्सा शामिल किया जाए अब असल आयात का नजूल तो इन जानवरों के लिए इससे खेचकर आगे लोग ले आए इसको कि जिस पर खत्म गौस पाक का पड़ा गया तो ये एक फैशन बनाया नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे इस पर खत्म पड़ा गया सामने भी खाएंगे और कभी सामने भी खाएंगे सिर्फ उसकी तस्वीर ना की जा खत्म क्या चीज है क्या हलाल खाने पर यानी रोटी जायज थी गोश्त पाक था फरूट पाक था उस पर अली फलाम नील पढ़ने से हुरमत क्यों आ गई है बात सोचने की है पलीतों को पार कर देता है फातिहा सूरज बकरा अब्दुल्ला के किया याद और वो कुल ये तो कराने कलाम ही है और बरकत से भरा हुआ ये तो जहां पड़ा जाए न उससे धूल होती है और क्योंकि इसमें खत्म कर दिया गया क्या खत्म ग्रंथ का पड़ा गया क्या खत्म जो है वो किसी इंसानी जाते का पड़ा गया खत्म क्या अमेरिका के वर्ल्ड आर्डर का पड़ा नहीं खत्म रब के कुरान का पढ़ा गया तो ये उसकी शान है अगर कोई कारोबार में आलूदगी थी तो वो तो उसको भी ठीक कर लेगा खत्म पड़ा गया अब आयात तो चांद बड़ों के बारे में थी और वो भी जिनको जरा कट वक्त गैर का नाम बोला जाए और उसको खेच के ले आए ये ग्यारहवीं के चावल की प्लेट पर भी तो मैं कहता हूं सोच की बात करनी चाहिए और होश से बात करनी चाहिए ये एक प्लेट की बात करते हैं मेरे रब ने ढेरों पर खत्म करे हैं सही मुस्लिम में भी है बुखारी में भी है मुस्लिम का वो मकान जिस वक्त तबूक की तरफ सफर हो रहा था और खाना खत्म हो गया लोगों ने तजवीज पेश की या रसूल अल्लाह सल्लाह वसलम आप बच नहीं सकते हम बड़ा दूर का सफर है सब कुछ खत्म हो गया है ऊंट जमा कर ले तो फिर बच सकते हैं सारे तजवीजें पेश कर रहे थे हजरत उमर रजी अल्लाह तला भी मैदान में आ गए साहिब फिक्र उमर लौकाना बागी नबी लकाना उमर अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर नबी होते वो भी अपनी तजवीज लेके आ रहा है कहने लगे यार रसोल्लाह सल्लाह वसलम मर्जी आपकी है तजवीज मैं भी देता हूं कि ये ऊंट जबा नहीं करनी चाहिए ऊंट जबा कर देंगे तो सफर कैसे करेंगे मेरा यह नजरिया कि जो कुछ बचा हुआ है किसी के पास खा एक खजूर है या आदि रोटी का टुकड़ा है वो सब आपके सामने ला के रख दे और आप दुआ कर दें मेरा यकीन है सब की बोरियां भर जाएंगी मुस्लिम मुस्लिम शरीफ मुस्लिम शरीफ की किताब ईमान है वो ऐलान हो गया नबी ने फरमा ठीक उमर तुम्हारी राय पसंद आई है ऊँटनी जमा करेंगे हजरत उमर का मकसद यह था जरूरत यह भी पूरी हो जाए जरूरत क्यामत ताकि आशकों की भी पूरी हो जाए कि अल्लाह के महबूब सलाम की वैल्यू कितनी है कैसे बेड़े पार करते हैं सब काफिला जो हजारों पर मुश्तमिल था उन्होंने अपने तोशादान झाड़े बोरियां खाली की इस कदर कमी हो चुकी थी कि सब ने जो कुछ झाड़ा अगरचे वो सारी खाने की चीजें नहीं थी उनमें खजूरों की गुठलियां भी शामिल थी लेकिन मजमूरी तौर पर कितना बड़ा ढेर बन गया था शाहबा कहते हैं इतना ही बना था जितना बैठी बकरी का जिस्म होता है छोटी सी ढेरी हजारों लोगों की बोरियां खाली की गई तो इतना तो कहा तो बाकी था कमी आ गई थी अब मेरे महबूब सलाम ने उस पर दुआ फरमाई ये नहीं कहा शहाबा मैं दुआ तो करता हूं मगर मुंह दूसरी तरफ करके क्योंकि ढेर पे करूंगा तो ये तो शिरक बन जाएगा नहीं रब कायनात के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक जाते वक्त उस पूरे ढेर की तरफ चेहरा फरमा के उस पे कलमात की तिलावत की दुआ फरमाई हजरत उमर कहते हैं हमें कभी फिर खाने की कमी नहीं आई और नबी सलाम ने प्लेट पे नहीं ढेर पे पट दिया है ताकि ढेर बन जाए सबके लिए साहबा कहते हैं सब ने बोरियां भर ली तो ढेर उतना ही फिर भी मौजूद था सबकी कमी पूरी हो गई तो रसूल अल्लाह सल्लाह वसलम ने खुद खाने वाली चीज पर दुआ मांगी ये बात पड़े यही खत्म शरीफ रसूल अल्लाह वसलम की जुबान से जो अल्फाज निकले हैं अगर कोई ये कहता नहीं नबी सलाम की दुआ और है तुम्हारी और है हम कहते हैं अगर तुम्हें समझ आ गई तो अच्छी बात है हम तो ये कहते हैं कि हमारा बोलना और है उनका बोलना और है तो रसूल अल्लाह सल्लाह वसलम ने खुद खाने वाली चीज पर दुआ मांगी कलिमात पड़े ये यही खत्म शरीफ रसूल अल्लाह वसलम की जुबान से जो अल्फाज निकले हैं अगर कोई ये कहता नहीं नबी सलाम की दुआ और है तुम्हारी और है हम कहते हैं अगर तुम्हें समझ आ गई तो अच्छी बात है हम तो यही कहते हैं कि हमारा बोलना और है उनका बोलना और है मांगे दुआ खाना बाजार उतना ही रहता है बरकतें आ जाती हैं ये सरकार के जुमलों का कमाल है कि बरकतें बातन में भी आती हैं बरकतें जहर में भी आ जाती हैं वही खाना बढ़ भी गया है गोरियां भर गई है और फिर बुखारी शरीफ में है रसूल अल्लाह सल्लाह वसलम जाबिर रदी अल्लाह तला ने जब यह कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लाह वसलम कर्जे बहुत ज्यादा है और अब्बा जी शहीद हो चुके हैं और अब सारी खजूरें दूध तो आधा भी नहीं उतरेगा तो मेरा कुछ करो तो नबी इस्लाम ने कहा तुम खजूरें काट के रखो मैं आता हूं खत्म करके बताता हूं खजूरें काट के रखो हालांकि बरकत तो यहां से भी शामिल हो सकती थी घर बैठे फरमाते ठीक है बदवा कर दी हो जाती तो फिर भी काम बन जाता तो नहीं खजूरें काट के रखो ढेर रखा गया सरकार ने गिर चक्कर लगाया और उस पर खड़े हो गए खड़े होकर दुआ फरमाई दुआ सरकार की यही तो खत्म है सबसे बड़ा कलेमात पड़े आयात पड़ी बिस्मिल्लाह की तिलावत की अल्लाह से दुआ मांगी हजरत जाबिर कहते हैं सरकार तशरीफ ले गए मैंने सारे कर्ज खाहों को बुला लिया नतीजा क्या निकला सारे कर्ज उतर गए एक खजूर भी ढेर से कम नहीं हुई थी ये एजाज शरीयत मुताहरा में सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए हैं यहां झगड़े प्लेट पे किए जा रहे हैं प्लेट की खातिर प्लेट पे झगड़े किए जा रहे हैं कि ये जायज नहीं ये हराम हो गया है ये नाजायज हो गया है मेरे नबी सलाम ने झगड़े खत्म किए फरमा प्लेट नहीं हम ढेर पे खत्म करते हैं ढेर पे दुआ मांगते हैं अब ढेर की दुआ वो खत्मों का बीज था शरक में भी फैला गरब में भी फैला शिमाल में भी फैला जनूब में भी फैला लोग मिट गए हैं रियाल के पैसे लगा लगा के खत्म रोके ना मराकश से रुक सका ना हिजाज से रुक सका ना इराक से रुक सका ना पाकिस्तान से रुक सका ना मिस्र से रुक सका ना शाम से रुक सका वो जिसको दवाम रब अता करता है उसको दुनिया की कोई हुकूमत खत्म नहीं कर सकती मोहतशम शामिल हजरात ये मुख्तसर सा बयान था आज के मौजू का और अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ग्यारहवीं किस्त इस ग्यारहवें रोजे को मुकम्मल करने की तोफीक अता फरमाई खान दिन कोर्स अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है और कल बड़ा अहम मौजू है रसूल अल्लाह सल्ला वसलम की शुजात सीरत के मौजूद में से बड़ा मुनफरद मौजू है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जिसमानी पावर कितनी थी बहादुर कितने थे दलेर कितने थे नडर कितने थे ये मौजू कल का मौजू है वक्त पे तशरीफ लाए जितने अहबाब ने मस्जिद के साथ ताउन किया अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमाए और बाकी को तावन की तोफीक अता फरमाए वाखिर दावाना अलहमदुल्ला रबीआलमी आज नहायत ही तारीखी इनकलाबी फिक्री और ईमानी मौजू पर गुफ्तगु सुनने की सादत हासिल हो रही है मेरी दुआ है खाल के कायनात जल्ला जलालू सबको कुरान सन्नत का फाहम फरमाए और कुरान सन्नत के बलाग तबलीग और इस पर अमल की तोफीक अता फरमाए हमारे मौजूद का एक सिलसिला जो साल हा साल से चल रहा है मफहूम कुरान बदलने की वारदात आज उसकी नवी किस्त है और इन शाह तबारक वाली ये बजरिया इंटरनेट अभी अगरचे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनी जा रही है इसके बाद जिस तरह के इसके पहले वालियम अतराफ अकनाफ आलम में पहुंचे हैं इन जलाल कलम हक को तासीर अता फरमाएगा और ये दूर दराज तक इंसानों को गुमराही से बचाने के लिए किरदार अदा करेगा मफहम कुरान बदलने की वारदात के मौजू से आप यकीन मुतारफ हैं इस मौजू में वो आयात पेश की जाती हैं कि जिनको लोग पस मंजर से हटा के पेश करते हैं और अपना गलत मतलब निकालने की कोशिश करते हैं तर्जमा अगरचे सही हो मगर मफहूम गलत निकाला जाता है तो हमारा उस वारदात को रोकने के लिए ये एक मुस्तकिल सिलसिला है तो आज जो आयत करीमा हम पेश कर रहे हैं वो बड़ी मारूफ आयत करीमा है और उसके स्टिकर भी काफी तादाद में छपवाए जाते हैं मगर उनका रुख और मफहूम गलत निकाला जाता है ये शुरू से ईमान वालों की सदा है हसबुन अल्लाह वनमल वकील कि अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है बल्कि जिस वक्त हजरत इब्राहिम आसमाम के लिए आग जलाई गई थी और वो आग में तशरीफ ले जा रहे थे उस वक्त भी वो यही नारा लगा रहे थे हमारे लिए अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है आज के इस मौजू में मेन दो बातों को हमने साबित करना है और वो कुरान मजीद से साबित करना है और उसके बाद जिमनन चंद अहादीस भी पेश कर दूंगा कि जितनी भी आयात इन अल्फाज के साथ हैं वो सूरह जुमर की हो सूरह तौबा की हो आल इमरान की हो इसके अलावा जहां भी वो सारी आयात हम पढ़ेंगे और उनका जो उसलूब है उसको माकबल से वाजे करेंगे और यह साबित करेंगे कि कहीं भी हसब अल्लाह या हसबन अल्लाह ये आयात जो है इनको रब्बुल जलाल ने इस पस मंजर में नाजिल नहीं किया कि इनसे मुराद अल्लाह ताला के वलियों की मदद की नफी करना हो या अल्लाह ताला के अंबियाए कराम अलमसलाम की मदद की नफी करना हो एक बात यह बयान करना लाजिम है कि जो मकसद इन आयात को पढ़ के आज के कुछ लोग लेना चाहते हैं यानी वो ये आयात हिंदुओं के पास जाके नहीं पढ़ते हमारे पास पढ़ते हैं और इस माहौल में और इस अंदाज में पढ़ते हैं कि जिस वक्त तुम रसूल अल्लाह वसल्लम की बात करो तो वो कहते हसबुन अल्लाह हमारे लिए अल्लाह काफी है तो मतलब क्या हुआ कि उन्होंने आयत का रुख इस तरफ किया कि इस आयत में नफी इस चीज की है कि रसूल अल्लाह वसल्लम की कोई जरूरत नहीं और अल्लाह हमारे लिए काफी ये गलती जो है कि इन आयात का रुख नबी सलाम की तरफ करना अम्बिया कराम की तरफ करना सिहाबा किराम की तरफ करना अल बैत अतहार की तरफ करना अलिया की तरफ करना यह गलती है कुरान मजीद में कहीं भी इन आयात का जो उसलूब है उसका नजूल और या अंबिया अलहसलाम के लिहाज से नहीं है बल्कि ये आयात खाल के कायनात ने बुतों के मुकाबले में और बुतों के मानने वालों के मुकाबले में नाजिल फरमाई है दूसरा हमने इस बात को साबित करना है इंशाला कि रब्बे जुलजलाल को ये पसंद है कि उसके बंदे बंदों की मदद करें और ये अल्लाह के कुरान की तालीमात है कि खाल के कायनात ने अपने बंदों को भी बंदों के लिए काफी कहा है और इस बात को वाजे किया है कि जिस रब के बंदे ऐसे हों उस रब की अजमतों का आलम क्या होगा यानी हमारे मुखालिफिन जब उन्होंने उल्टा रंग दे दिया कि जिनको रब्बे जुल जलाल जिनकी पावर को जाहिर करना चाहता है इन आयात के अंदर उन्होंने उन्हीं की पावर को मिटाने के लिए आयात पढ़ना शुरू कर दी और जिनकी पावर के खिलाफ अल्लाह ने यह आयात नाजिल की है उनके लिहाज से इन आयात को पढ़ ही नहीं जाता लिहाजा आज हम इन आयात को पढ़ के जो कुरान से इनका पस मंजर नजर आ रहा है और आयात के अल्फाज जिस बात को बयान करते हैं उससे हम साबित करेंगे कि ये शुरू से सिरात मुस्तकीम इन आयात के लिहाज से रब जुलजलाल ने हमें ही अता फरमाया है सबसे पहली बात कि ये आयात अल्लाह तबारक वाली ने कुफार के मुकाबले में और बुतों के मुकाबले में नाजिल की है इनको हजरत सिद्दीकी अकबर के मुकाबले में नाजिल नहीं किया गया कि उनसे किसी ने ताउन चाह हो तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी हो कि इसको छोड़ो मैं काफी हूं या रसूल अल्लाह वसल्लम से किसी ने ताउन चाह हो तो यह आयात नाजिल की गई हूं कि अल्लाह तला ने फरमाया उनको